दया परिवार के सहयोग से प्रेमपुरी आश्रम में विशेष कार्यक्रम उसमें श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः काल एकादश अध्याय में चौतीसवें श्लोक तक तो हुआ था आगे संजय उवाच संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनम् केशवस्य वचनम् केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय ष्णन् नमश्चित्ता भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीतभीत प्रणम्य सगद्गदम् भीतभीत प्रणम्य सञ्जय उवाच केशवस्य पिताञ्जलिन्द्रे पमानः किरीति नमस्कृता भूय सेवा कृष्णम् सगद्गदन् केशवस्य एतद्वचनं श्रुत्वा वेपमान कृताञ्जलिः एतद्वचनम् श्री भगवान उवाच कालोश्मी लोक क्षय कृत श्लोक तीन श्लोक में बत्तीस तैतीस चौतीस जो भगवान का वचन केशव से तद वचन श्रुत्वा किरीटी अर्जुन है वे पमान कमते हुए कितांजलि हाथ जोड़ते हुए भूय नमस्कृत फिर नमस्कार करके भूय आह फिर कृष्ण से कहा कैसे कहा सगद गदम गदगद होकर के बीत भीत डरते डरते फिर प्रणाम करके नमस्कृत पहले कहा फिर प्रणम्य बार बार नमस्कार करके डरते डरते पहले कहा था फिर भूए वहा फिर कहा गदगद होकर के गदगद होता है जो भय से अथा दुख से अथा स्नेह से बद हर्ष हो जाता है भय हो जाता है ऐसे होता है तो श्लेष्मा आदि हो जाता है कफ आदि हो गया कंठ रुक जाता है भय से भी डरते डरते अथवा दुख से भी बोल नहीं पाता है बहुत हर्ष होने पर भी सोचता है कंठ में रुक जाता है शब्द नहीं बोल पाता है इसको कहते गदगद भय से हो दुख से हो स्नेह से हो हर्ष होने पर अश्रुपूर्ण आंख में आंसू भर जाए कंठ में श्लेषमा से कंठ रुक जाए तो शब्द स्पष्ट नहीं होता है वो जो मंद शब्द है उसको गदगद कहते हैं ऐसे गदगद होकर के डरते डरते फिर प्रणाम करके कहा क्या कहा कि कहेंगे अर्जुन ने कहा ये संजय राष्ट्र को बताते हैं श्लोक बोलो संजय उवाच एतच्छ्रुतावचनं के शवस्य दे प्रमाणः कीर्ति नमस्कृता भूय एवाह कृष्ण सगद्गदम्बे तवितः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः अर्जुन उवाच स्थाने शीके समप्रकेत्या जगत च रक्षांसि वेतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः हे ऋषिकेश ऋषिकेश स्थाने मतलब युक्त यथार्थ ठीक है क्योंकि तब क्यों ठीक है क्या तब प्रकृतिया जगत प्रहिष्यति अनुरज्य तेज आपके कीर्तन से आपके महात्म कथन से सुन करके आपके महात्म सुन करके सारा जगत हर्ष को प्राप्त करते हैं और ठीक है क्योंकि आप के विषय में सुनकर के हर्ष होता है स्वाभाविक है युक्त है क्योंकि आप हर्ष आदि का विषय है ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत के सूर्य है उनके बारे में सुनने से हर्ष होता है और अनुरज्यत अनुराग प्राप्त करते बड़े प्रसन्न होकर के ये भी ठीक है और अक्षांश भीतानी दिशो द्रवंती आपके विषय में सुन करके आपके नाम सुन करके आपकी कीर्ति सुन करके राक्षस लोग डर करके इधर उधर दिशा भाग जाते हैं दिशो इधर उधर दिशा भाग जाते हैं सर्वे च सिद्ध संघा नमस्यंती सिद्धों का समुदाय कपला आदि जितने सिद्ध है तो समुदाय सब नमस्कार करते हैं ये भी यथार्थ है ठीक है आप नमस्कार के योग्य है उचित राक्षस लोग ही भाग जाते हैं आपके कर्तन से सब जगत प्रसन्न होते हैं हर्ष को प्राप्त करते अनुराग को प्राप्त करते राक्षस लोग भाग जाते हैं भय करके सिद्धों का संग आपको नमस्कार करते हैं सब ताने युक्त यथार्थ है इसी मंत्र को कोई इस श्लोक को मंत्र जैसे सिद्ध करते हैं राक्षस भूत पिशाच होते हैं तो उनको भगाने के लिए ये मंत्र बोलने से राक्षस भाग जाएगा किसी में ग्रह प्रविष्ट जैसे होकर राक्षस लोग प्रवेश करके शरीर में प्रवेश करते हैं घर में किसके शरीर में तो इसको बोलने से अभ्यास करने पर सिद्ध करते इसे बोलने से राक्षस लोग भाग जाते हैं ये तंत्र शास्त्र में इसे प्रसिद्ध है कैसे भाग जाते हैं श्लोक बोलो अर्जुन उवाच स्थाने जगत तव क्षां भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा भगवान् हर्षका विषय नमस्कार के विषय क्यों है वो अर्जुन कहता है तेन न मेरन् महात्मन् कस्माच्चतेन न मेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवे स जगन्निवास अनन्तदेवे स जगन्निवास तमक्षरं सदसत् यत् तमक्षरं सदस यत् समाचते न गरीयसेवं मरोप्यादि कर्ते अनन्त देवे स जगन् निवास समाक्षरं सदस तत्परं यत् कस्मात् तेन हे महात्मन् क्यों सौ नमस्कार नहीं करेंगे सिद्ध संग नमस्कार करते हैं क्यों नहीं करेंगे गरीय से आप गुरु तर गुरु से भी गुरु के भी गुरु है ब्राह्मणों पे आदि करते हैं ब्रह्मा जो उनका भी आदि करता उनका भी उत्पादक आप है हिरण्य गर्भ के भी आदि करता कारण है हे अनंत देश काल वस्तु परिचित रहित तो, हे देवेश देवताओं का ईश्वर देवेश्वर जगन निवास सारे जगत का अधिष्ठान सारे जगत आप में आश्रित है तम अक्षरम आप तो अक्षर अविनाशी तत्व है सद असत तत्परम यत सते कार्य असते कारण उससे पर कार्य कारण से विलक्षण सत असत तत्परम यथ नहीं कार्य कारण से विलक्षण भी आप है कार्य कारण भी आप में कल्पित और उससे विलक्षण आप है सत असत में कार्य कारण कहीं सत शब्द से जो वर्तमान दिखता है सत और भूत भविष्य को असत कहा अथवा व्यावहारिक को सत कहा प्रातिभाषी को असत कहा व्यावहारिक को जिसके दिखता है सत असत शब्द से सत्य सत्य विषाण बंध्यापत्र तो नहीं लेना का पदार्थ लेना उससे पर होता है ब्रह्म सब कुछ आप ही है इसलिए आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे आप ही नमस्कार के लिए योग्य आप ही सर्वत्र है पारमार्थिक आपको सब नमस्कार करते हैं हाँ, को बोलो गरीय से ब्रह्मणों का देवे जगन्निवास तमाचरं सदसप्तत् यत् तमादिदेवः पुरुषः पुराणस् तमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परञ्च धाम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वया ततं विश्वमनन्तरूप त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्य तमस विश्वस्य परम् निदानं चेतासि वेदं च परम् च धाम त्वया सदं वेशरूप त्वं आदि जगत का सष्टा है सबके आदि में है देव पुरुष सर्वव्यापक से पुरुष पुराण पुराण पुराण चिरंतर है अनादिकाल से ही तम अक्षर विश्व से परम निधान सारे विश्व का निधान है निधान क्या है जिसमें महाप्रलय में सारे जगत रहता है वही निधान है निधान आप में ही सब कुछ रहते हैं सारा जगत प्रलय काल में आप में ही रहता है आप ही परम निदानम वेत्तासी आप सबको जानने वाले आप है वेत्तासी सबको जानने वाला आप है अरे वेद्यंश जानने योग्य भी आप है केवल एक ही ज्ञ है पर ब्रह्म आप है ज्ञम यत्त प्रवक्षा यज्ञात्वा मृतमश्नते वही वेद्य आप ही है सबको जानने वाले भी आप है और जानने योग्य भी एक है आप है आपके ज्ञान से ही मोक्ष होता है बाकी सब मिथ्या है कोई जानने योग्य है ही नहीं परम च धाम परम धाम परम पद आप है विष्णु पर ब्रह्म स्वरूप आप ही है परम पद त्वया तो ततम विश्व अनंत रूप है अनंत रूप आप अनंतम रूपम यश्य जिनका रूप अनंत है अपरिचिन्न है सारे देश में सारे काल काल में सर्व देश काल सर्व वस्तु व्यापक रूप है आपका ततम त्वया विश्वम ततम सारे विश्व ब्रह्मांड आपसे व्याप्त है क्योंकि आप सर्वदेश काल वस्तु में ही देश परिचिन हो तो सारे व्याप्त नहीं है काल पर, देश परिचिन होगा तो एक देश में रहेगा अन्य देश में नहीं रहेगा अब देश परिचन्न नहीं उनसे सर्वव्यापक है काल परिचिन्न उनसे सर्व काल में भी आप है अतीत वर्तमान भविष्य तो सब काल व्यापक वस्तु परिचन्न नहीं उनसे सारे वस्तु आपसे भिन्न कोई ही नहीं ये स्वरूप आप है हाँ, श्लोक बोलो त्वमादिदेव पुरुष पुराणस् तमस्य विश्वस्य परं निधानम् ेतासि वेदं च परं च धाम तया ततं वेशमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः वरुणः शशाङ्कः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वम् प्रपितामहश्च प्रजापतिस्तम् प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्र कृत्वा नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्तः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्यमोऽग्निर् वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तम् सं नमो नमस्ते स्तु सित्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सब कुछ आपे वायु भी आपे यम भी आपे अग्नि भी आपे वर्ण भी आप है शशांक चंद्र भी आप है प्रजापति स्तम प्रजापति ब्रह्मा जी के पिता भी आप है प्रपिता महर्ष प्रजापति के भी पिता आप है प्रपिता महर्ष नमो नमस्ते सहस्रकृत आपको नमस्कार नमस्कार कितने बार कृत हजार बार बार बार नमस्कार हजार बार नमस्कार करने के बाद और नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं कहते पुनश्च फिर नमस्कार फिर कितने बार भूयो पी नमो नमस्ते फिर नमस्कार बार बार नमस्कार बस और कुछ कहने का ही नहीं आप सब कुछ है प्रजापति भी आप है उनके पिता भी आप है सब कुछ आप है प्रपितामह पितामह ब्रह्मा भी आप है प्रपितामह भी आप है उनके भी कारण है सर्वात्मक है आपको नमो नमोस्ते दो बार कह दिया तो बार बार फिर कहते हजार बार नमस्कार है फिर हजार बार कह तो पुनश्च फिर नमस्कार है बोयो फिर फिर एक बार नहीं फिर नमो नमो नमो नमो बार बार बार बार दो बार कह दिया मतलब बार बार है बार बार नमस्कार ही श्लोक बोलो वायुर्यमोग्नेर वरुण शशांक प्रजापतिस्तम् न पितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च नमो नमस्ते अत्यधिक श्रद्धा भक्ति होने पर जितने नमस्कार करने पर संतोष नहीं होता है और कुछ करने का है ही नहीं ना कुछ देना है न कुछ कहना है अत्यधिक होने पर तृप्त हो गए होते उनसे बास बार नमस्कार है फिर आगे क्या कहेंगे फिर नमस्कार कहा नमस्कार करेंगे तो परमात्मा सब रहे नम पृष्ठ तस्ते नमः पुरस्तादथ तिष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि सर्व सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्व नमः पुरस्ता दत नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितमेकमस्तम् सर्वम् सर्वं नम पुरस्ताद पूर्व दिशा में भी आपको नमस्कार अथ पृष्ठतस्थ पीछे भी आपको नमस्कार सामने भी नमस्कार पीछे भी नमस्कार सब नमस्तुते सर्वत सर्वत आपको नमस्कार सबोरापे आगे आपे पीछे नहीं बात नहीं सर्वव्यापक है सारा जगत व्याप्त है तो आगे भी आपे पीछे भी आगे नमस्तु ते सर्वत आगे पीछे बाएं डायने कितने कहेंगे सारे सब और आप नमस्कार हे सर्व इसलिए आप सर्व ही सर्व संबोधन हो गया सर्वतेव सर्व यह सर्वसद संबोधन विसर्ग नहीं ना हे सर्व सर्वात्म का आप तुम अनंत वीरिया अमित विक्रम अनंतम वीर्य में से अनंत वीर्य वीर सामर्थ्य आपका सामर्थ्य अनंत है अंत नहीं इतने बहुत सामर्थ्य है और अनंत विक्रम विक्रम पराक्रम अमित अनंत वीर और अमित विक्रम आपके विक्रम भी अमित अपरिचिन्न है ये दोनों में क्या भेद है वीर्यवान बलवान समर्थ कोई है बलवान होने पर शस्त्र चलाने के लिए सबको मालूम है बहुत बलवान है कहेंगे थोड़ा तो वंशी बजा लो बजा देगा बलवान होने पर अपने काम है बलवान सब बलवान बहुत मजबूत है किंतु अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए सब कुशल नहीं है परमात्मा आया आप तो आपके सामर्थ्य भी बहुत है पराक्रम भी बहुत है कोई तो वीर बहुत है किंतु पराक्रम नहीं शस्त्र आदि विषय में पराक्रम नहीं आप तो अनंत वीर और आपका विक्रम भी अनंत अमित विक्रम कम अनंत वीर्य अमित विक्रम तम सर्वम समापनोसी सबको व्याप्त होकर के व्याप्त आप है एक आत्मस्वरूप आपके स्वरूप से पूरा सबको व्याप्त होकर के आप स्थित है सबके व्याप्त होकर स्थित है इसलिए तत्वसी सर्व इसलिए आप सर्व है के व्याप्त करते हैं आपसे भिन्न कुछ है नहीं सर्वत्र सर्वात्मना एक आपके सर्व से सब व्याप्त होने से आपके बिना कुछ भी नहीं है सब सर्व ही आप है इसलिए पूरा आपको ही नमस्कार है श्लोक बोलो नमः तुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामि सविक्रमस्तम् सर्वं समाप्तोऽसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं अजानता तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सकेति मत्ता शभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि सखाई मत्वा मैं तो आपको सखा बंधु मान करके यद प्रसभम उक्तम जो कभी कभी आपको तिरस्कार करके ऐसे ही बोला सामान्य खेलते खेलते कुछ बोलते थे कभी बोलते हे कृष्ण हे यादव हे सके ऐसा कुछ कुछ बोला है आपको सखा मान करके तवेदम महिमान अजानता आपकी जो महिमा इसको नहीं जानते हुए मैं कुछ बोल दिया ऐसे हंसते करते बंधु करके प्रिय सखा करके क्या क्या बोल दिया ऐसे नाम लेकर बोल दिया मया प्रमादात प्रमाद से बोल दिया विक्षिप्त चित्त होकर के अथवा प्रणयन स्नेह से प्रेम से स्नेह विश्वास विश्वास करके ऐसे ही कुछ को भी बोल दिया प्रणयन वापी आगे क्षमा प्रार्थना करते हैं मैं आपको सौखा मान करके कभी कभी ऐसे बोलते हैं हंसी मजाक करते समय समान उम्र उम्र वाला है बंधु है मान करके ऐसे कुछ विपरीत भ्रांति के कारण तिरस्कार करके शब्द ऐसे प्रयोग कर लेते कभी प्रसवम आपको प्रसव दबा करके कुछ शब्द कह दिया तिरस्कार करके हे कृष्ण करे हे दाव हे सके ऐसे बोला दिया पर ब्रह्म सर्वव्यापक पर ब्रह्म ऐसे में बोलता है जैसे बच्चे को बुलाते हैं हे कृष्ण हे दादव आपकी महिमा नहीं जान करके कभी प्रमाद से कभी प्रसन्न खुद स्नेह से ही ऐसे ही खेलते कूदते कहते ये ये सब जो कहा है अभी अर्जुन सोच रहा है तो ये तो पर ब्रह्म सर्वव्यापक ब्रह्मादि के भी ईश्वर है सारे देवों का देव है सब स्तुति करते और वही एक ही अद्वितीय तत्व है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता आगे श्लोक में आएगा श्लोक बोलो सखे मत्ता हेयादवी सखेति अजानतामयि मानं कवेदम् मया प्रमादात् प्रणये न वापि यच्चा वः विहारशय्यासन भोजने बिहारशय्यासन विहारशय्यासन भोजने यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत् समक्षम् एकोऽ वाप्यच्युत सत्समक्षम् तस्यामये त्वामहमप्रमेयम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् तव सत्कृतोऽस्ति विहार शय्यासन भोजनेशु एक तवाप्यच्युत तत्समक्षम् पहले तो बता दिया हे कृष्ण हे यादव ऐसे कहा था आपकी महिमा को नहीं जान करके यच्च अवहासार्थम परिहास उपहास करने के लिए कभी हंसी मजा करने के लिए असत्कृत सी तिरस्कार किया कभी ऐसे उपहास करने के लिए कभी कुछ ऐसे कर दिया कब ऐसे क्या विहार सयासन भोजन सु विहार चलते फिरते समय सया सोते समय आसने में कभी बैठे भोजन करते समय कभी कुछ कभी कुछ बोल देते हैं हंसी मजा से एको अथवा अच्युत समक्षम एकांत में हो आपके एकांत में हो अथा समक्ष प्रत्यक्ष हो बहुत के प्रत्यक्ष में कभी बोल दिया कभी कभी अकेले हो एकांत में बोला कभी प्रत्यक्ष सबके सामने ही बोल दिया ऐसे कभी कुछ बोलते तो समित सोचते नहीं बंधु बांध में से होता है अपने समान उम्र वाले दोस्ती वो कहते बंधु हुए प्रिय सकाय ऐसे कभी कुछ हंसी मजा कर बोल देते कभी कुछ तिरस्कार करके बोल देते कभी कुछ मजा कर कुछ बोल देते ये जितने बोला है तत्श्याम क्षमा प्रार्थना करता मुझे क्षमा कीजिए तो आम हम अप्रमेयम आप अप्रमेय प्रमा का विषय ने आपको कौन जान सकता है मैं कहा क्या जान सकता हूँ अभी दिव्य चक्षुदन से कुछ देखता हूँ तो भी आपका रूप अनंत रूप है क्या जान सकते आप अपने में प्रमेय के विषय नहीं ज्ञान के विषय नहीं है इसलिए ये जुतने क्या है हमारी बहुत गलती है मैं क्षमा कर चाहता हूँ क्षमा कीजिए सारे दोष हमारा जितना अपराध क्या सब का सब के लिए क्षमा करता मांगता हूँ श्लोक बोलो यच्चाभाषार्थमसत्कृतोषि विहारशय्या सनभोजनेषु एकोऽथवाप्युच्युतमक्षम् च्छामये ता पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो न तत्समोत्राप्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेप्य प्रतिमप्रभाव लोकत्रये प्रतिमप्रभाव विकाशी लोकास्य चराचरश्च अमास्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् हतत्समो व्यधिका नो लोकात्तरेत्य प्रतिमा प्रभाव अस्य चराचर से लोकस्य पितासी सारे लोक का पिता जनक आप है लोक क्या है चराचर चर और अचर प्राणी जितने सौ चर चरसावर जंगम सौ का ही आप पिता है जनक है कारण है केवल इतने तमश्च पूज्य गुरु गरियान सारे लोग का आप पूज्य पूजनीय है पूजा के लिए योग्य है जगत के पिता केवल इतने पूज्य है और गुरु भी है सबके गुरु है और केवल गुरु नहीं गरियान गुरु से भी बढ़कर के गुरुतर है गुरु से भी बढ़कर के क्योंकि न तत्सम अस्थि आपके समान कोई है ही नहीं अभ्यधिक अन्य और अधिक कहां से होगा समान भी कोई नहीं आपसे अधिक कौन अन्य कैसे हो सकता है यहां नहीं होगा तो कहीं दूसरे लोक में देखो कहीं हो सकते तो लोक तरह भी तीनों लोक में भी कितने भुवन है चौदह नीचे सात ऊपर सात है भूलोक को नीचे में लेना है उतर लेना ऊपर लेना है ऊपर लेंगे तो भूर भुव स्व मह जन तप सत्य साथ हो गया और आगे नीचे भी साथ है अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ये साथ साथ मिलकर चौदह भुवन है चौदह भुवन को तीन लोक में कह देते हैं ये मर्त्य एक हो गया नीचे पाताल उसमें आ गया पृथ्वी में और स्वर्ग से आगे अंतरिक्ष लोक भूव के एक रखा भूर भूव स्व तीन में आ गया पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग सात लोग पृथ्वी को मिला के सात में से एक पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष को एक कर दिया दो रह गया और ऊपर कितने ये बड़ा कठिन प्रश्न है कोई छोटे बच्चे को बुलाकर पूछना पड़ेगा कितने सात में से पृथ्वी और अंतरिक्ष दो चलेगी अब कितने बचेंगे यही पूछा था पांच बचेंगे स्वर्ग हो गया स्व भूर भूव स्व स्व को लेने के बाद कितने बचेंगे चार ये चार को स्वर्ग के अंदर भी ले लेना स्वर्ग के साथ मिलाना अंतरिक्षय के ही और पृथ्वी कहेंगे तो नीचे के सात लोग भी आ गई तो तीनों लोग भी सारे ब्रह्मांड आ गए चौदह भुवन कह सकते तीन जो कहते भू लोग कहते भू में पाताल आ गई अरे भू अंतरिक्ष है अगर सौ कहेंगे तो सौ के आगे और कितने रहेंगे चार, वो भी आ गई तो ये तीनों लोक का ही आप पूज्य है लोक त्रय भी तीनों लोक भी कोई आपके समान है ही नहीं और आपसे अधिक कौन हो सकता है यहां नहीं कहीं भी ब्रह्मा लोग तो कहीं भी है अप्रतिमा प्रभाव संबोधन है अप्रतिम प्रभाव यश्य जिसके लिए कोई प्रतिमा नहीं है अप्रतिमा अविद्यमान प्रतिमा यश्य प्रतिमा है उपमा सादृश्य आपके लिए कोई सादृश्य है ही नहीं सादृश्य आपका कोई है ही नहीं ऐसे कैसे प्रभाव के लिए आपके प्रभाव के लिए कोई सादृश्य नहीं है उपमा नहीं है हे अप्रतिम प्रभाव आपका प्रभाव अत्यंत अपरिमित है तीनों लोके में आपके समान कोई नहीं अधिक कहा होगा आप सबके पूज्य है गुरु से भी गुरुतर है हाँ श्लोक बोलो पिता लोक ममस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्ताभ्यधिकः कुतो नो लोकात्रयेभ्य तीनों लोके में ऐसे प्रभाव आपका है आपके प्रभाव के समान कोई प्रभाव इतने नहीं किसके पास तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायम् सा पितेव पुत्रस्य सखेव प्रियः प्रियायार्हसि दे छोडु तस्मात् प्रणम्य आपको प्रणाम करके नमस्कार करके प्रणिधाय को प्रकर्षण निधाय नीचे प्रकर्षण नीचे सर को गिरा करके त्वाम अहम त्वाम ईशम इडम अहम प्रसाद ही आपकी प्रसन्नता खुशी करता हूं मैं नमस्कार करके और क्या करना ईशम ईश्वर सब के सब का पूज्य है ऐसे नमस्कार करके नीचे सर गिर करके आपके प्रसन्नता करता हूं प्रार्थना करता हूं पिता एवं पुत्र से जैसे पुत्र के दोष पिता अपराध क्षमा कर देते हैं सखे एवं सख्यु सखा भी सखा के दोष को अपराध को के लिए क्षमा करता है सहन कर लेता है प्रिय प्रियाया प्रिया के दोष को प्रिय भी भूल जाता है अपराध क्षमा कर लेता है इसी प्रकार हे देव सोढ़ मरसी हमारे अपराध को सहन कर दीजिए करना चाहिए पूरा दोष क्षमा कर दीजिए सब दोष का अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रणिधान में प्रणिधान का तो अष्ट आठ अंग के साथ प्रणाम साष्टांग प्रणाम होता है आठ अंग कैसे है जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पानीभ्याम उरसा दिया शिसा वचसा प्रणाम अष्टांग ईरित हम शिरसा वचसा दृष्टिया जानुभ्याम च तथा पदभ्याम पाणीभ्याम उरसा धिया शिरसा वचसा दृष्टिया प्रणामो अष्टांग ईरित अष्टांग प्रणाम जानु नीचे रहेगा घुटने पद भी नीचे रहेगा हाथ भी नीचे आएगा भूमि पानी भ्याम उरसा छाती भी नीचे रहेगा और कितना भी हो गए चार जानू पद पानी छाती कितने होंगे चार।, के बाद दिया बुद्धि से मन से भी मन भी रहेगा और सिर कहाँ रहेगा सिर भी नीचे रहेगा कितने होंगे अरे बच्चा शब्द से भी प्रणाम करना है और दृष्टिया दृष्टि दर्शन भी करना है प्रणाम करते समय आठ अंग से प्रणाम जानुभ्याम च तथा पदभ्याम दोनों जानू नीचे लगेगा दोनों पाद में नीचे रहेगा अपना दोनों पानी हाथ भी आगे बढ़ करके उनके चरण स्पर्श करे तो नहीं तो हाथ में नीचे रहेगा लंबा करके उरस छाती में नीचे लगेगा और मन से भी होना चाहिए दिया सिर भी नीचे लगेगा शब्द से भी प्रणाम करना चाहिए नमस्कार और दृष्टि भी दर्शन ये अष्टांग प्रणाम हो ये आठ अंग से प्रणाम करते हैं ऐसे महिलाओं को ऐसे अष्टांग प्रणाम करने के लिए मना करते हैं अन्य को साष्टांग प्रणाम करते हैं प्रणाम करते समय सिर भी नीचे रहे बुद्धि मन भी हो शब्द काय वाक मन ये तीन है शरीर से भी झुक कर प्रणाम करना मन से भी भी मन भी रहना और वाणी से शब्द से भी कोई शब्द से तो कहते मन ही नहीं ना सिर झुकना है ऐसे कोई बोलते हैं प्रणाम बोल देते हैं ना मन है में प्रणाम है ना सिर झुकता है कभी कोई ऐसे प्रणाम करते हैं ऐसे ही बाएं हाथ से तो तिरस्कार होता है नहीं करना चाहिए ऐसे करे प्रणाम करना कोई प्रणाम नहीं कर तो कोई आपत्ति नहीं ऐसे करना है और प्रणाम करते कोई प्रणाम करते जैसे नाराज होकर उसको देखना ही नहीं वो नहीं दृष्टि दर्शन भी है सिर भी झुका करके शब्द से कम से कम तीन प्रकार साष्टांग प्रणाम हो गया और नहीं तो त्रिविधम नमनम त्रिविध नमन सिर से वाणी से और मन से सिर को लगा लगा करके झुका करके चरण में लगा करके मन भी प्रणाम में और वाणी शब्द भी प्रणाम कह करके और जो प्रणाम करते स्पर्श करते चरणों को कभी स्पर्श करते हैं नियम है प्रणाम करने के लिए दक्षिण पाद को दक्षिण हाथ में हाथ से स्पर्श करना दाहिने पाद को स्पर्श करना दाहिने हाथ से और बाएं पाद को स्पर्श करना बाएं हाथ से इसको नहीं समझ कर कोई लोग खाली ऐसे जानते हैं जब बैठेगा ऐसा करके अबे बैठे ही दाहिने पैर कहा रहा बाई तरफ बाई पैर इधर आ वो भी प्रणाम करने वाले ऐसे कर देंगे तो क्या होगा मालूम है उल्टा हो जाएगा ऐसे यदि खड़े हैं तो आप तो ऐसे करो तो जैसे कोई प्रणाम जिसके दाहिने तरफ इधर ये डायना यहां है डायना है आपके डायना तो उधर है इसलिए ऐसे करने से दाहिने हाथ से दाहिने पद बाएं से बाएं पद स्पर्श होगा और जब ऐसे बैठ गए दाहिना पद दक्षिण पाद दाहिने पाद इधर आ गया बाएं इधर है आप इधर फिर ऐसे कर दो तो क्या होगा जो आपका दाहिना दाहिने में नहीं न करके इधर आ जाएगा बाएं इधर आ जाएगा कुछ लोग नहीं समझ करके ऐसे प्रणाम करते ऐसा नहीं इसका अभिप्राय है दक्षिण पाद को दक्षिण हाथ से स्पर्श करे बाएं पाद को बाएं हाथ से स्पर्श करे ये प्रणाम करते हैं और कभी कुछ देते लेते समय ये दाहिने हाथ का उपयोग करें दक्षिण हाथ से बाएं हाथ से देना लेना नहीं बाएं से लेना अथवा देना वो तिरस्कार माना जाता है कोई पत्र भेजे थे राम जी रावण के पास वैसे ही लेकर के हनुमान जो कहते रामायण में आया हुआ कहीं भी हो किसी को ऐसे कभी नहीं हो पाता इधर कहते हैं बड़े लोग को ले लेते हैं किंतु सामान्य किसको देना तो दाहिने हाथ से देना बाएं से नहीं कोई को नहीं जानते भोजन ही परसेंगे तो रोटी बाएं से चलेंगे अथा कभी दक्षिणा देते तो बाएं हाथ से रख दिया दक्षिणा कभी देते समय बाएं हाथ से नहीं रखना चाहिए दाहिने हाथ से रखना चाहिए कुछ देना लेना दाहिने हाथ से बाएं हाथ से रखना तिरस्कार फेंकना ऐसे करके जो फेंकना है ना बाएं ऐसा नहीं होता है सीखना चाहिए शास्त्र में सब कुछ कहा गया है सब पढ़ने से सुनने से ज्ञान होता है चित्त प्रकार रहना चाहिए सदाचार क्या है सीखना चाहिए सदाचार सन्मार्ग में चलने पर प्रत्येक कर्म में प्रत्येक व्यवहार में पूजा होती उपासना होती धर्म होता है और प्रत्येक व्यवहार में गलत होने पर पाप होता है भोजन करते समय आप लोग पानी पीते हैं ना ग्लास रहता है बाया से पानी ग्लास लेकर उठा कर पीते ना नहीं पीते ना बाया शुद्ध रहता है दाहिने हाथ भोजन करते तो दाहिने हाथ में कभी कुछ हाथ में लगा होगा उसे गिलास पकड़ेंगे तो गिलास में चार तरफ लग जाएगा इसे बाएं हाथ से पीते शास्त्र में आया जल वाम हते न हते न जल पान मध्य पानी के समान निषिद्ध है बाएं हाथ से पानी पीना नहीं चाहिए और इधर मुख लगा रहे पिया तो हाथ और शुद्ध कैसे रहा गिलास शुद्ध रहा मुख में डालकर पिया हाथ शुद्ध कैसे उसी हाथ से फिर शुद्ध इसको मानते हैं पानी यदि पिया तो हाथ शुद्ध नहीं हुआ इसलिए बाएं हाथ से नहीं पी करेंगे दाहिने हाथ से पानी पीना चाहिए ग्लास अन्य समय भी दाहिने हाथ से पीएंगे बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए किंतु मालूम नहीं तो ऐसे ही करते हैं जिनको डाइन ऐसे अभ्यास अपना अभ्यास है डाइन से पीना है भोजन करते समय यदि ऐसे कोई लोटा आदि छोटा है पानी पीने का रखा गया उसको शुद्ध रखना चाहते हैं झूठे करेंगे तो अंत में आचमन करने के लिए योग्य नहीं होगा तो उसको ऐसे पिएंगे तो ऐसे पीते ऊपर से झूठा नहीं होगा किंतु बाया से नहीं पीना चाहिए इसे क्या करना चाहिए ऐसे करके बाया से लोटा पकड़ा हाथ इसमें लगा दिया हाथ झूठा है यहां स्पर्श नहीं कर ऐसा लगा दिया लगा करके पिएंगे इसलिए बाएं हाथ से पीना नहीं हुआ दोनों हाथ लग गया और ये लोटा झूठा नहीं हुआ ऐसा रहा अंत में फिर आचमन करेंगे तो ये अभ्यास करने से होता है बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए कुछ देने देने बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए प्रणाम करते समय त्रिविधम नमनम तीन प्रकार नमस्कार होता है मन से वाणी से और शरीर से शरीर से सिर को झुकाकर हाथ को हाथ जोड़ करके और साष्टांग तो अलग है ऐसे प्रणाम करते समय सिर झुके के हाथ जोड़ेंगे शब्द से भी कहना है और मन से भी मन भी होना चाहिए मन से प्रणाम करे परमात्मा का भजन करते समय ये अभ्यास होने से जब भगवान का नाम जप करते हैं जप करते हैं मन भी रहना चाहिए उसमें जप करते करते मन को परमात्मा में लगाए और परमात्मा के मन में ध्यान करते करते जप करे जप करते समय ही नमस्कार करना होता है आज बताया था जप में क्या मंत्र है कोई शिवाय नम कहता कोई नारायणाय नम कहता कोई भगवती वासुदेवाय नम कोई कृष्णाय नम नमस्कार है रामाय नम नम कृष्णाय गोविंदाय गोविंद नहीं नमस्कार ही तो नमस्कार ही करना और मनुष्य ही करना होता है ये सब यहाँ इसे प्रणिधाय निधराम निधाय निधना निधाय मतलब स्थापना चरण आपके जिनको प्रणाम करते उनके चरण में रख दिया प्रकर्षण निधाय किसको कायम अपने शरीर को रख करके प्रसाद क्षमा प्रार्थना करने के लिए क्षमा प्रार्थना कर रहा है अर्जुन श्लोक बोलो तस्मात तस्मात कायम प्रसादयता मामी पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियाया हस्तेव सोडु अदृष्टपूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा अदृष्टपूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मे भयेन च मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास अदेष्ट पूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्टा न शब्दं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीददेवे अदृष्ट अदृष्टपूर्वम दृष्टवा हर्षितोस्मी आपका ये रूपये कभी पहले नहीं देखा था अदृष्ट पूर्व पूर्वम अदृष्टम ऐसे रूप आपका देख करके बड़े खुश में हो रहा हूं हर्षित तो हो रहा हूं खाली हर्ष नहीं भय न च मे मन प्रव्यथितम अरे भय भी रहता है बड़ा भय इसलिए भय से मेरा मन प्रकर्षण व्यथितम भय से संचलित मन अतिर हो गया मन अत्यंत भय से हे देव तदेव मैं रूपम दर्शे वही रूपम मुझे दिखाई कौन सा रूप आगे बताएंगे जो मेरा प्रिय रूप है उसी प्रिय को मुझे दिखाइए हे भगवान प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए हे देवस्य देवेश हे जगन निवास संबोधन देवानाम ईशा देवेश देवताओं के ईश्वर सारे देवताओं के ऊपर देवादि देव हे जगन निवास जगत का निवास जगत का स्थान सारे जगत आप में है मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए जो मेरा प्रिय रूप है उसको दिखाइए ये रूप नहीं देखा था पहले देखकर बहुत हर्षत हुए साथ ही बड़े भय से कारण मन बहुत ही व्यथित हो रहा है मेरा प्रिय रूप दर्शन कराइए श्लोक बोलो अदृष्ट पूर्व निशिकोस्मी दृष्टा भय च मनो में देव मे सत्यगन्निवास तदेव रूपम् जो रूपं रूप का कौन सा है किरीतिनङ्गदिनञ्चक्रहस्थ किरीटिनङ्गदिनञ्च चक्रहस्त मिच्छामि त्वां तथैव मिच्छामि त्वाम् तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते सहस्रबाहो भवविश्वमूर्ते गिरीचिनं गजनं मिच्छामि क्रस्त मिच्छामिताङ्गमं तथैव देवरूपे चतुर्मुजेन सहस्रबाहो किरीटिनम किरीट शिव भूषण किरीटी वाले गदा वाले चक्रहतम चक्र हस्ते और क्या छोट गया शंख और पद्म भी किरीट गदा चक्र कहन से शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज ताम द्रष्टुम अहम तथे वैचामी उसी प्रकार में देखना चाहता हूं तेने रूपेण चतुर्भुजन चतुर्भुज रूप हो जाइए हे सहस्रबाहु अभी तो विश्व रूप में उनके बाहु कितने हैं हजार हजार सहस्र बाहु हे विश्वमूर्ते तेने चतुर्भुजन रूपेण भव उसी रूप हो जाइए तेन रूपेण कहने का अभिप्राय पहले भी उसका रूप दर्शन अर्जुन करता था और इसलिए तदेव में रूपम दर्शय वही मेरा प्रिय रूप उसको है भगवान के चतुर्भुज रूप अर्जुन पहले भी बार बार दर्शन करते थे इसे कहते उसी रूप से मुझे दर्शन कराई हे सहस भाव विषम भाव कह करके प्रार्थना करते उसी रूप हमको हमारा प्रिय रूप उसको दिखाइए तो श्लोक बोलो ङ्गदिनं चक्रस्व मिच्छामिताङ्गस्तु महं तथैव तेनैव रूपेण चतुरुदेन सहस्रवाहो भवे शे श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयम् विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् श्रीभगवान् उवाच मया प्रसन्नेन रूपम् परम् दर्शितमात्मयोगात् मयम् मयङ्गेश्वमनन्तमादम् जन्मे सदन्येष्टपूर्वम् मया प्रसन्न इदम रूपं परम रूपम आत्मयुगात् तव दर्शितम् तेजमयं रूपं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यरूपम में तदन्य न दृश्य पूर्वम किसने पहले नहीं देखा तुमसे भिन्न मैया प्रसन्न न मैं प्रसन्न होकर के दिखाया तब ये रूप तुम्हारा रूप जो विश्व रूप है परम रूपम ये एकदम परम निरतिशय स्वरूप विश्व रूप आत्मयोगात दर्शितम योग सामर्थ्य से मैं दिखाया अपना रूप योगी तेजमय प्रकाशमय रूप है सर्वात्मक विश्वम अनंतम जिसका कोई अंत नहीं आदि अंत मध्य कुछ नहीं सर्वव्यापक रूप दिखाया आद्यम सब के आदि में सब का कारण सब के आदि में होने वाला ऐसा जो रूप दिखाया यत रूपम तदन्य न दृश्य पूर्वम तुमने देखा तुमसे बिना किसने कभी नहीं देखा इस रूप तुमको प्रसन्न होकर के मैं दिखाया श्लोक बोलो श्री भगवान या प्रसन्नवाजुनदं रूपं परं दशितमात्मयोगात् ते जोमयं विमाद जन्ने त्वदन्येन न पूर्वम् अभि कते मेरा रूप दर्शन से तुम कृतार्थ हो गए हो न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न वेदयज्ञा जयनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम निलोके एवं रूप सत्य अहम निलोके द्रष्टुम तदन्यन कुरु प्रवीर द्रष्टुम तदन्यन कुरु प्रवीर दयज्ञ दयनैर्न दानैर्च एवं रूपा सत्यलोके द्रष्टुं प्रवीर जो रूप दिखाया न वेद यज्ञ अध्ययन वेद यज्ञ अध्ययन सारे वेद का अध्ययन करे यथार्थ अध्ययन ठीक करे यज्ञ आदि का अध्ययन करे युग शास्त्र पढ़े यज्ञ का ज्ञान प्राप्त कर ले न दान ही जितने दान करे तुला पुरुष दान करते हैं अपने ओजन के जितने वजन है इतने ओजन के चांदी सोना तो दान करना सुवर्ण दान अपने ओजन के बराबर कितने हिसाब करना कठिन है साठ सत्तर अस्सी के जो किलो होता है तो इतने चांदी भी देते वो भी कठिन होता है और जो नहीं कर पाते तो अनाज दे देते हैं गेहूं चना मूंग मिला करके वो तो हो जाएगी बड़ी में आ जाएगा तो चना ये दान करते तुला पुरुष दान और गोदान भूदान बहुत दान होता है अन्नदान जितने दान है अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम अन्नदान सबसे बहुत दान है क्योंकि अन्नदान से अन्न से किसको तृप्त कर सकते हैं धन जितने देने पर और धन दिया और धन ठीक है और धन दिया तो भी ठीक है अन्न से पेट भर गया तो नहीं खाएगा आगे विद्यादान दान उससे बढ़ करके किंतु विद्यादान कौन कर सकता है तो विद्वान ही कर सकते हैं तो अन्य को विद्यादान का फल कैसे मिलेगा आया यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कोई सम्राट क्षत्रिय कर सकता है अश्वमेध यज्ञ का बहुत फल है जो फल चाहता है उसको कैसे मिलेगा अश्वमेध उपासना करके फल मिल जाएगा शास्त्र में इसी प्रकार आया जो बहुत बहुत कर्म सब लोग नहीं कर पाएंगे किंतु फल चाहते हैं तो फल भी मिल जाएगा उपासना के द्वारा ठीक इसी प्रकार विद्यादान का फल जो उत्कृष्ट फल है मिलेगा कैसे जो विद्या ग्रहण करते जो विद्या प्रदान करते हैं उनके लिए यदि कुछ व्यवस्था किया रहने के लिए भोजन के लिए वस्त्र के लिए पुस्तक के लिए ये विद्यादान का फल हो जाता है क्योंकि वो विद्या अभ्यास करते हैं जो विद्वान पढ़ाते हैं विद्यादान करते हैं और जो विद्यार्थी को पहले गुरुकुल में विद्वान लोग को रख करके सब भोजन आदि व्यवस्था करके रख करके पढ़ाते थे अभी भी ऐसे कितने स्थान में है भोजन आदि दे करके पढ़ाते रखते हैं तो जो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उनके लिए भी विद्या आदान प्रदान के लिए गृह पुस्तकालय और निवास वस्त्र भोजन ये देने से विद्यादान का ही फल मिल जाता है तो ये दान होता है बहुत प्रकार दान करे तो भी इस रूप का दर्शन नहीं हो सकता है न दाने न च क्रिया भी कर्म जितने करे अग्निहोत्रादि कर्म उससे भी परमात्मा का इसे विश्व रूप का दर्शन नहीं होगा न तपो भी उग्र ही उग्र तप के द्वारा बहुत चांद्रायण आदि तप करते हैं त्रियम प्रातः त्रियम सायं त्रियम अद्यादयाचितम त्रियम परम च न्यात कृष्ण चांद्रायण विदु तीन दिन प्रातः काल एक एक बार भोजन करे तीन दिन त्रेहम तो प्रातः एक बार भोजन करना दिन में कुछ नहीं खाना कितने दिन उसके बाद तीन दिन सायकाल में भोजन करना एक एक बार सुबह से कुछ नहीं खाना कितने दिन हो गए छह दिन कितने दिन भोजन किया कितने बार भोजन किया छह बार तीन दिन प्रातः तीन दिन चाहिए आगे तीन दिन त्रियंग अध्यात अयाचितम बिना आगे यदि कहीं भोजन मिल गया तो एक बार खा लेना नहीं मिला तो उपास रहना दूसरे को नहीं बताना मैं अभी व्रत कर रहा हूँ अमुक दिन से अमुक तीन दिन कहीं मांगने नहीं जाऊंगा कोई देगा तो खाएगा नहीं तो नहीं खाऊंगा ऐसा बोलने से प्रिय बंधु बांधव क्या करेंगे उधर आकर खिलाएंगे सब लोग लाकर खिलाएंगे वो नहीं जितने लोग लाएंगे सो खाना भी नहीं बताना भी नहीं किसको ऐसे यदि कोई भोजन दे दिया तो खाना नहीं तो क्या करना उपवास करना कितने दिन पूरा हो गए नौ दिन में तो सौ दिन एक एक बार खाया और तीन दिन क्या खाया अपने आप देखो कोई अपने आप कोई मिल देता है तो खा लिया नहीं नहीं तो नहीं खाया उसके लिए इधर उधर नहीं जाना सो उसके घर में जाओ उसके घर में जाओ और तो फिर कहीं खिला देगा कहीं नहीं जाना किसको नहीं बताना यदि मिला तो ठीक है और परिवार वाले तो खिलाएंगे वो नहीं लेना उसके बाद तीन दिन कोई देने पर भी नहीं खाना कितने दिन पूरा हो जाएंगे एक बारह दिन में इसे एक व्रत होता है और एक प्रकार व्रत करते हैं पूर्णिमा से कोई शुरू करते हैं कोई अमावस्या के बाद शुरू करते हैं अमावस्या पूर्णिमा में चंद्र पूरा है तो दिन भोजन किया दूसरे दिन से व्रत शुरू करना एक ग्रास कम करो दूसरे दिन और एक ग्लास कम कर तीसरे दिन एक, एक कम ऐसे करते करते अमावस्या को भूखा रहना अमावस्या के हाथ प्रतिपदा को एक एक बार खाया एक बार एक ग्रास द्वितीय को दो ग्रास तृतीय को तीन ग्रास ऐसे करे तक हो अमावस्या बीच में आएगा कोई ऐसा तो अमावस्या से शुरू करना बीच में पूर्णिमा अमावस्या के दूसरे दिन प्रतिपदा में एक बार इतने दिया एक ग्रास भोजन किया द्वितीय को दो ग्रास तृतीय को चतुर्दशी को चौदह बार खाना चतुर्दशी उसके बाद पीछे पूर्णिमा आ गई तो पंद्रह बार खाना फिर चतुर्दशी को चौदह फिर त्रयोदशी को तेरह फिर दशमी को दस बार फिर पंचमी को पांच बार प्रतिवेदा को एक बार फिर एक दिन हुआ अमावस्या ये एक महीना अब अमावस्या से शुरू करो पुण्या से शुरू करो आपकी मर्जी किंतु अमावस्या पूरा नहीं खाना <laughs> पुण्य खाना और एक ग्रास एक ग्रास जितने एक बार खा सकते ये खा कर रहना ये भी एक व्रत है बहुत प्रकार व्रत है ये व्रत करने से बहुत कठिन व्रत है उग्र व्रत करते हैं उससे अंतगुण शुद्ध होता है जरूर किंतु इतने मात्र से परमात्मा के इसे रूप दर्शन नहीं होता है एवं रूप अहम निलोक न सक्य ऐसे मनुष्य लोक में क्या कहीं भी कोई मुझे नहीं देख, सकता इस रूप से ऐसे रूप दस तदन्य न कुरु मैं आपने कैसे दर्शन किया वो तो परमात्मा की कृपा से और कोई ऐसा दर्शन नहीं कर सकता है ऐसे हे कुरु प्रवीर कुरु नाम परवीर श्रेष्ठ है श्लोक बोलो न वेदयज्ञाधयनैर्न दानैर्न चाक्रियाविर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपा सत्यं लोके द्रष्टुं कुरु प्रवीर संजय उवाच अच्छा, अच्छा एक श्लोक है माते माच विमूढ भावो माते माच विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपम् घोरमिद्रिङ्ममेदम् दृष्ट्वा रूपम् घोरमिदृङ्मेदम् व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वम् व्यपेतभिः पुनस्तम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य माते व्यथा वाच्य विमूढभाव दृष्टारूपङ्गोरमेदं ममेदम् व्यते च भीति समना पुनस्तन् तदेव मे माँ ते व्यथा भूत आपको भय नहीं हो माँ से विमूढ़ भाव मोह विमूढ़ चित्तता मोहग्रस्त नहीं हो घोरम ईदृग ममेद रूपम दृष्टवा मेरा जो ये घोर भयंकर ये मेरा रूप है ऐसा रूप दे करके तुमको व्यथा नहीं हो और दिग्भ्रम हो गया विमूढ़ चित्तता नहीं हो व्यपेत तभी प्रीतमना पुनः तम तदेव में रूपमिदम प्रपस्य भय रहित होकर के भय छोड़ करके प्रसन्न होकर के फिर देखो तुम यही रूप जो तुम्हारा प्रिय रूप उसको देखो तदेव में रूपम इदम प्रपस्य कौन सा रूप दिखाएंगे अभी चतुर्भुज रूप दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण का दो हाथ वाले वंशीधर नहीं चतुर्भुज रूप अर्जुन ने प्रार्थना की थी कहते विश्व रूप दर्शन करने से तुमको भय हुआ इसको भय नहीं हो घोर रूप दे करके भय रहित होकर के प्रसन्न होकर के वही तुम्हारा प्रिय रूप देखो चतुर्भुज शंख चक्र गदाधर रूप देखो तुम्हारा इष्ट रूप श्लोक बोलो माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्टारूपम् घोरमेदिम् ममेदम् व्यपेतभीपीतमना पुनस्तम् तदेव मे रूपमिदम् प्रपश्य विश्व रूप का ध्यान तो आपने किया था अभी चतुर्भुज रूप प्रकट होने वाले आपके मन में यदि विश्वरूप ध्यान करना है तो विश्वरूप का ध्यान करो जिनको चतुर्भुज दर्शन करने की इच्छा चतुर्भुज का ध्यान करो ध्यान करना है पांच मिनट शांत होकर बैठना पुस्तक रख दो पुस्तक हाथ में नहीं रखना सीधा बैठना आंख बंद करके बीच में बाएं डाएं आगे पीछे नहीं देखना कोई आया गया तो भी कोई चिंता नहीं उधर नहीं देखना शांत होकर के चतुर्भुजाय नमः विश्वरूपाय नमः विश्वरूपाय नमः नमो नारायणाय नमो नारायणाय वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ध्यान अभ्यास करने पर यही चिंतन करना परमात्मा के चरण में बैठ करके मैं उनका चिंतन कर रहा हूं दर्शन कर रहा हूं पूजा कर रहा हूं नमस्कार कर रहा हूं यही सामने परमात्मा परमात्मा तो है सर्वत्र हमको दिखता नहीं किंतु मन में जो विचार करते तो सामने ऐसा है ऐसे लगता है आप दूर दूर से कोई जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए थोड़े समय दर्शन करने का तो आंख बंद कर ध्यान करते हैं आंख बंद क्यों आंख बंद करते दर्शन करो देखने के तो गई बहुत दूर से आकर के देख कर थोड़ा देखने के बाद आंख बंद कर लेते हैं रूप अंदर आ जाते हैं अंदर चिंतन करते हैं बाहर वस्तु से सुख दुख नहीं होता है अंदर जब उसका चिंतन करते तब होता है परमात्मा को भी दर्शन कर लिया फिर आंख बंद कर अंदर चिंतन करते हैं वो संस्कार हो जाता है तो जैसे जगत सारे विषय का संस्कार होता है परमात्मा का स्वरूप सुना जैसे सुना ऐसे ही संस्कार हो जाएगा ऐसे रूप आंख बंद करने पर भी ऐसे रूप सामने है ऐसे अभ्यास करने से लगेगा रूप सामने है तो वे न करके उनके चरण में बैठ करके उनका नमस्कार कर रहा हूं पूजा भजन जो कुछ करे जप करे वहीं बैठ करके और सामने अभ्यास हो जाए कोई यदि अभ्यास कर पाए हृदय कमले में परमात्मा है उनका भी ध्यान करे ऐसे अभ्यास करने पर सर्वव्यापक परमात्मा ऐसे चिंतन भी कर सकते हैं हे व्यापक सर्वमात्मा सर्व व्यापक जब प्रतीक सामने रखते सारा ग्राम नर्मदेश्वर वहां भी व्यापक परमात्मा का ध्यान करना होता है पहले नहीं होता है तो प्रतीक उपासना करते हैं फिर अभ्यास करें व्यापक परमात्मा ये चिंतन करें मन को अन्य विषय से हटा करके परमात्मा लगाना ये अभ्यास करना पड़ता है पढ़ते समय थोड़ा जो किसी प्रसंग आया थोड़े समय चिंतन किया भोजन करते भोजन करने के पहले परमात्मा को अर्पण करना परमात्मा को चिंतन करके कहीं चलते समय परमात्मा को चिंतन कर अर्पण ध्यान करके बहुत लोगों का अभ्यास है लिखेंगे तो पहले कलम के लगाते हैं ये करते हैं नहीं कहते रुपया गिनती करते सुन तो कोई कैसे लगाते हैं और रुपया गिनती कर सकते हैं कहीं कहीं थूक लेकर गिनती करते हैं वो कहीं जो रुपया गिनती करते समय अथवा पुस्तक ऐसे करते समय ऐसे दिया सुख लागर करना बहुत अनुचित है ये झूठा हो जाता है दान तो लक्ष्मी है जीप पानी थोड़ा रखो रुपया गिनती करने के चाहिए तो थूक लेकर के रुपया गिनती करना और पुस्तक तो सरस्वती भगवान ऐसे पूजा करने हेतु तो पुस्तक को पुस्तक के लिए आसन देना होता है पुस्तक के झूठे हाथ से स्पर्श करना ठीक नहीं पुत्र पढ़ते समय कभी भी हाथ पैर धोया साफ होकर पढ़ना होता है और ऐसे बैठे लेते जहां का पुस्तक रख दिया ऐसा नहीं पुस्तक की पूजा होती है विजयादशमी में नवरात्र में पुस्तक की पूजा होती है और गुरुद्वार में जाकर देखो वही क्या किसकी पूजा करते हैं वो ग्रंथ साहेब साहेब कहते गुरु ग्रंथ पुस्तक है वो संस्कृत भी नहीं है तो उसके रखे कितने पूजा करते आरती करते चामर करते हुई पूजा <clears throat> तो शुद्ध हाथ से रखना चाहिए भोजन जो बनाते शुद्ध पवित्र भोजन बनाए हम खाएंगे तो जुटा हो गया तो क्या हो गया ऐसा नहीं और परमात्मा अर्पण करके भोजन करे ये थोड़ा करने से ही भक्ति बढ़ती है परमात्मा की कृपा होती है उसे कुछ बिगड़ता नहीं धीरे धीरे इसे सदाचार सीखे परमार्थ में चले परमात्मा की भक्ति तभी भक्ति बढ़ती करनी चाहिए थोड़े ध्यान ऐसे अभ्यास करने से ध्यान भी हो जाता है अभ्यास करना पड़ता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास अभ्यास किया है योग सूत्र पाणी निमर्श ने पतंजलि महर्ष ने बनाया तत्र स्थितो यत्न अभ्यास स्थिति परमात्मा मन लगे उसके लिए यत्न का नाम अभ्यास बार बार यत्न करना है संजय उवाच संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं दर्शयामास भूय स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम् आशासयामास च वीतमेन भूत्वा पुनः सौम्य भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा सञ्जय उवाच वासुदेवस्ततोक्ता वासुदेवस्तथोक्ता सतङ्गं दर्शयामास भूय आशासयामास च भीतमेन भूता पुनः सौम्य वपुर्मात्मा इति वासुदेव अर्जुनम तत्व उत्वा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसे कह करके अर्जुन को कहा कहा कितने श्लोक में कहा भगवान मया प्रसन्न से लेकर के एक दो तीन तीन श्लोक में ऐसा कह करके स्वकम रूपम भूय मास अपना जो रूप है उसको फिर दिखाया कौन सा रूप है फिर दिखाया मतलब पहले भी दिखाया था कितने बार दिखाया होगा भूय शब्द आने से अर्जुन को रूप बार बार दर्शन होता था स्वकम रूपम भूय दर्शयामास क्योंकि दिखाने विश्व रूप दिखाने के पहले किस रूप से भगवान थे चतुर्भुज रूप से नहीं नहीं, नहीं दो भुज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सकार रूप से थे सारथी बनकर बैठे थे तो समात में से भी नहीं होगा सारथी होकर बैठे थे उसी रूप से रहते समय विश्व रूप दिखाया फिर स्वकम रूप दर्शाया मतलब तो फिर उसका वही रूप नहीं चतुर्भुज कहते हैं क्योंकि वही रूप देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी और आशाशयमाश चयनम भीतम भीत अर्जुन था उसको सांत्वना दी पुनः महात्मा सौम्य वपुर भूतवा महात्मा भगवान सौम्य सौम्यम वपुर यश्य जिनका सर्व बड़ा सौम प्रिय शांत स्वरूप शंख चक्र गदा प्रथम स्वरूप बड़े सौम्य शांत स्वरूप ऐसा स्वरूप होकर के फिर डरे हुए अर्जुन को देख करके सांत्वना दी जैसे माता पिता बच्चे कुछ प्रेम से आश्वासन देते हैं इसे आश्वास है हम आश्वास श्लोक बोलो संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्ता सकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनम् भूता पुनः सम्यवपुरमात्मा अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपम् दृष्टेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः सचेताः प्रकृतिं गतः अर्जुन उवाच इष्टेदं मानुषम् रूपम् तव सम्यम् जनार्दन इदानीमस्य संयुक्तः सचेताः प्रकृतिङ्गत अर्जुन का दृष्टेदम् मानुषरूपम् मनुष्य सम्बन्धी रूप आपका देख करके सौम्य रूप देख करके इदानीम सचेता संवृत मैं प्रसन्न हो गया प्रकृति में गत स्वभाव में गया पहले अपने स्वभाव कुछ दिग्भ्रम हो गया था डर रहा था कुछ पता नहीं चला था अभी अपने स्वभाव में आ गया प्रसन्न हो गया बड़ा आनंद हो गया आपका ये रूप देख करके सौम्य रूप है हे जनार्दन श्लोक बोलो अर्जुन उवाच दृष्टेदं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्ति संवृत्तः प्रकृतिम् गतः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदम् रूपम् सुदुर्दर्शमिदम् रूपम् दृष्टवानसि यन् मम दृष्टवानसि यन्म देवा अप्यस्य रूपस्य देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम् दृष्टवारसि यन् मम देवाप्तस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः यन दृष्टवान असी मम रूपम इदम सुदूरदर्शम अस्य रूपस्य देवापि नित्यम दर्शन कांक्षण ये जो रूप तुमने देखा विश्व रूप दूरदर्श दुखे न दर्शन जैसे दुर्दर्श दुर्दर्शन है सुदूरदर्श अत्यंत दूरदर्श दुर्लभ और दूरदर्श में भेद है दुर्लभ का तो मिलना कठिन है दुर्दश का तो दर्शन करना कठिन है दुर्लभ है कहीं वहीं नहीं मिलेगा दुर्लभ और दुर्दश है दर्शन करना बड़ा कठिन है दुख है न बहुत प्रयत्न तपस्या में दर्शन हो दुर्दर्श और सुदूरदर्श मतलब और अधिक सुदूरदर्श ईदम रूपम यम मम दृष्टवानसी जब मैंने रूप, मेरा रूप तुमने देखा क्योंकि इसका तो इस रूप से देवापी दर्शन कांक्षण देवता लोग भी देखना चाहते हैं चाहते हैं चाहते का तो अभी तक तो नहीं देखा ना देखेंगे चाहते हैं सुन करके सब चाहते देखने के लिए दर्शन कांक्षण दर्शन की इच्छा करने वाले इच्छा करने पर भी नहीं देख पाए अब तक आगे भी नहीं देखेंगे वो देखते हैं देखना चाहते इसलिए अत्यंत दुर्दर्श रूप तुमने देखा बड़े भाग्यवान तुम हो श्लोक बोलो श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् श्रियन्मम देवाप्यस्य नृपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ऐसा सुदूदर्श क्यों देवताल को क्यों नहीं देख पाएंगे आगे कहते हैं न हम वेदैर न तपसा न हम वेदैर न तपसा न दाने न चेजया न दाने न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम् शक्य एवं विधो द्रष्टुम् दृष्टवानसि यथा दृष्टवानसि मान्यथा अहं वेदैर्न तपसा सदानेन न चेज्जया शक्य एवं विभो दर्शम् यथा वेदैः न अहम् द्रष्टुं शक्य न तपसा न दान न न चैजया एवं विद द्रष्टुम शक्य न यथा माम दिष्टवान जैसे तुमने विश्व रूप का दर्शन किया ऐसे वेद न सारे चार वेद रिक्त यजो शाम अथर्व सबको ठीक ठीक अध्ययन करे तो भी न तपसा जितने उग्र तप करने पर चांद्रायन आदि व्रत करे तो भी न दर्शुम शक्य न दान न गोदान भूदान हिरण दान गो भू पृथ्वी दान जमीनी दान करते भूदान सुवर्णादि दान करते जितने दान करे उसके द्वारा भी ऐसे दर्शन नहीं होता है न चैजया यज्ञ पूजा करके भी दर्शन होता ऐसा नहीं जैसे तुमने देखा एवं विद दर्शन न सक्य यथा तम दृष्टि जैसे तुमने देखा श्लोक तो बोलो न तपसा न दानेन न चेज्जया सख्यमेवं विदो फिर कैसे जान सकते तो दर्शन हो सकता है त्वनन्यया शक्य भक्त्यात्मनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुम् च तत्त्वेन ज्ञातुम् द्रष्टुं च तत्त्वेन च परन्तप च परन्तप भक्त्यात्मनन्यया शक्य आमे अङ्गिरोऽर्जुन ज्ञातुम् द्रष्टुम् च अनन्या भक्त्या तु एवंविध अहम द्रष्टुम शक्य ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्व प्रवेशुम च अनन्या भक्तिया अपृथक भक्ति है भगवान से भिन्न कुछ कभी भी नहीं था कभी नहीं है कभी नहीं है मन कहीं नहीं अन्यत्र जाए सारे इंद्रिय के द्वारा वासुदेव सब इंद्रिय प्रमाण के द्वारा केवल परमात्मा ही अनुभव होते हैं और कोई अनुभव नहीं होता है ये अनन्य भक्ति से ऐसा में जाना जा सकता द्रष्टुम शक्य विश्व दर्शन ज्ञातुम और शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करना साक्षात्कार करना और तत्व तत्व से साक्षात्कार करने पर प्रविष्ट मोक्ष प्राप्त करने के लिए संबंध संबंध अनन्य भक्ति है वासुदेव परमात्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं ऐसे चिंतन करने पर निरंतर दर्शन संभव है श्लोक बोलो सत्या सख्य आमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मत्कर्म किन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म किं मत्कर्मो मद्भक्तः शृङ्गवर्जितः निर्वयः सर्वभूतेषु यः पांडव मामेति पाण्डव मत्कर्म कृत कर्म मेरे लिए ही करो और हम परम से मत परम भृत्य स्वामी के लिए कर्म करता है किंतु स्वामी को परम गति नहीं मानता है परम गति तो परमात्मा को मानता है और भक्त भी कर्म करने मात्र से भक्त नहीं होता है ये तो मत कर्म कर्म मेरे परम गति मानो मेरा ही भक्त हो संग वर्जित किसी से संग आसक्ति नहीं हो अन्यत्र आसक्ति है तो मेरा भक्त नहीं हो मेरा जो भक्त है अन्यत्र आसक्ति नहीं करेगा आसत्य नहीं करेगा तो सर्वत्र शत्रुबुद्धि ये नहीं सर्वभूत सुनिर्वैर वैर शत्रुबुद्धि भी नहीं यह स माम एति है पांडव मुझे प्राप्त कर लेता है मेरा ही भजन है मेरा ही सर्व प्रकार भजन करता है सर्वत्र मेरा ही भजन करता है अन्य मेरे से भिन्न कोई पदार्थ में राग द्वेष रहित राग नहीं द्वेष भी नहीं एक अद्वितीय तत्व इसी का ही चिंतन करता है कहीं शत्रु नहीं ऐसे हम अस्मी परम ब्रह्म ऐसे चिंतन करता है ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है तो मुझे ही प्राप्त करता है श्लोक बोलो मत कर्म किम मत परमो भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु य पांडव ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु श्रीमद भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो सर्वदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः नामैकादशोऽध्यायः ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मादिशम् ऋतम् वादिशम् सत्यम् वादिशम् तन्मावित् तद्वक्तारमावित् आवित् माम् आविद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः